बिना पति सुना है संसार पति हो से जप है पति ही से तप है पति ही है करता बिना पति सुना है संसार पति ही से तप है इस तन को बिन पति विपति हजार बिन पति सुना है संसार एक पति व्रत रहे जगत में तो सब व्रत बेकार बिना पति व्रत के नारी का जीवन है धिकार बिना पति सुना है संसार बिना पति सुना है संसार पति से जप है पति से तप है पति ही है करतार बिना पति सुना है संसार बिना पति सुना है संसार पुत्रवधु के यह वचन सुन न सका दस भाल रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल तब मंदोदरी ने कहा बेटी यह बतलाओ इस बूढ़ी की किस तरह लगेगी पार नाम मरने से मेघनाद ही के जर्जरित हो रही छाती है दुखों पर और दुख है यह तो भी बिछुड़ी जाती है किस भांति रहूंगे जीवित मैं इतना मुझको समझाए जाओ तो मुझे अंधे की लकड़ी है रास्ता तो मुझे दिखाई जाओ मंदोदरी के हृदय पर कष्ट अथाह विलोक बधु प्रमिला ने कहा माता करो न शोक ईश्वर आदेश जाति के हित रण में जो प्राण गवाता है वही तो जग में जन्मा है उसकी माता ही माता है इसलिए मात रोना छोड़ो यह अवसर रोने योग्य नहीं जग से इतना ही नाता था और यहाँ कुछ भोग्य नहीं तुमसे भी संसार में नारी न होगी अन्य देख तुम्हारे चरित को कहना पड़ता धन्य मन के विरुद्ध पति पा कर वे ईश्वर समान अपनाते हो उसके दुख में दुख पाते हो उसके सुख में सुख पाती हो सीमा है वह पतिव्रता के जितना आदर्श तुम्हारा है सचमुच तुम जिस पथ पर हो माम वह पथ खाड़े की धारा है तिस पर यह एक स्वर्ण पन्ना ग्रंथों में रखा लंका के श्री इंद्रजित जीत से ब्रह्मशाली संयमी पुत्र को उपजा के फिर मेरा जीवन भी पावन तुमने ही मात बनाया है पितु के गृह में जो सुख न मिला वह सुख इस घर में पाया है मैं बतलाऊ क्या तुम्हें तुम मुझको बतलाओ विधवाओं के विषय में माता कुछ समझाओ बैठ गई मंदोदरी यह सुनकर उस ठोर बोले तुझसे भी बहू नहीं मिलेंगी और जग में जो धर्म बहू का है वह तूने पूरा जाना है भूले भी सास नहीं समझा माता ही मुझको माना है घर के झगड़ों से दूर रहे घर वालों को सम्मान दिया गहने कपड़ों का मोह छोड़ गृहचर्या पर ही ध्यान दिया इसलिए वैधव्य में तुझको मैं आज निहार विधवाओं के भेद मैं कहती हूँ दो चार सच तो यह है उत्तम विधवा वे ही जग में कहलाती है जो पति के साथ सती होकर पतिपुर को सीधी जाती है वे भी है उत्तम के समान जो रहती है तपसिन बनकर जगपति के पूजा करती है अपने पति के विरहन बनकर अथवा निज बहनों का सुधार रखती है नित्य अपने चित में सच्चे संन्यासिन बन बन कर लगती है देश जात हित में तारायण चंद्रायण व्रत कर दिन प्रतिदिन देह सुखाती है उत्तम आदर्श कथाओं को सुनती है और सुनाती है वे मध्यम है जिनका जग में भोगों से चित्तन भरता है घर में मन मारे रहती है घर पर न किसी क्षण मरता है चूड़ियाँ तोड़ देने पर भी जो नहीं चूड़ियाँ तोड़ सके जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ फिर भी श्रृंगार न छोड़ सकी सतसंगत जिनके साथ नहीं मन में जिनके संतोष नहीं ऐसी विधवाओं का विवाह फिर हो जाए तो दोष नहीं चौथी विधवा ये नहीं दुनिया को दरकार उनका रहना भूमि पर है अति भारी कार वे विधवाए हैं कहीं नहीं वे विधवाए हैं कभी नहीं ऊँचे कुल की कुलदा कुलटाए हैं वे श्याओं से भी गिरी हुई पर देवाली श्याए हैं इन श्याओं की आत्माएं भीतर ही भीतर सड़ती हैं सैकड़ों सहस्त्रों वर्षों तक रव रव नरकों में पड़ती है सुलोचना चरणों गिरे सुनकर यह उपदेश इस विधवा के हे तुम्हारा क्या है अब आदेश उत्तम वैधव्य यही है जब निजपति के साथ सती होना तो कह दो बधु प्रमीला तो वैसी ही सुगतिवती हो नाम संकोच छोड़ दो मोह तजो बोलो जो बात धर्म की है दुनिया में सबसे बड़ी साख सदव्रत की है स्वधर्म की है आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नयन मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन भी चैन आँखों आँखों में हुई अर्जी जब मंजूर तभी आँख से हो गई सुलोचना भी दूर पति चरणों का ध्यान धर मगा कर सुखपाल रामादल की तरफ चले सती तत्काल वहाँ सिंधु तट पड़ा है एक श्वेत पाषाण राज रहे हैं उसी पर वे भक्तों की प्राण कोमल तन धून धूसरित है जोड़ा है शीश जटाओं का अपने सिर भार उठाए है मानो जग की सेवाओं का मखमल रेशम का नाम नहीं बल कल का वस्त्र देह पर है वह वस्त्र बताता है जग को त्यागी राजा से बढ़कर हैं अद्भुत है शांत मुस्कुराहट उस श्याम सलोने आनंद पर गंभीर ओज होता जैसे पानी से भरे हुए घन पर पृथ्वी पर रखी है कमान जग जगोद्धारक जगवंधन के त्रिभुवन मंडल है लोटपोट उस छवि पर कौशल नंदन की हो बानरो सेवन में छत्री सभा सजाई है मानो इस भांति प्रकृति द्वारा जनपद की पदवी पाई है फल फूल पात पर ही रहती के रसन लेती है गिरखंडों वृक्षों से लड़ती शस्त्रों को कष्ट न देती है ऐसी सेनाएं सम्मुख पाम सेनापति पुलकित गर्वित है सेनाए भी निज राजा पर आनंदित प्रमुदित हर्षित है चरो ने उसी क्षण दिया यह समाचार एक पाल के इधर को आती है सरकार किलकारी भर कर तभी बोल उठे कुछ कीस अब तो यह प्रत्यक्ष है हार गया दशसी इधर सुगर पालकी में उसने सीता माँ को भिजवाया है है यही यही सच्चा संधि पात्र जो इस अवसर पर आया है